जिसमें सूत्र का काम में पीछे देखते रहता एक से सुनिए हम्म। जी तुरीय अवस्था के बारे में थोड़ा बता दें तुरीय का मतलब होता है चतुरीय च का लोप हो जाता है चतुर्थ अवस्था चौथी अवस्था फोर्थ स्टेज तुरीय का मतलब चौथी स्थिति इससे पहले की तीन अवस्थाएं जागृत स्वप्न स्वप्न सुषुप्ति और इससे चौथी जो तुरीय है मतलब ये है समाधि अवस्था उसको तुरीय अवस्था बोलते हैं बहन जी छियालीसवा सूक्त थोड़ा दोबारा व्यक्त कर सकते उपाधिश्चेत तब सिद्धो पुनर्द्वैतम इससे पहले वाला सूत्र है पुरुष बहुत्वम व्यवस्था का पैतालीसवें सूत्र में सिद्धांति ने कहा कि पुरुषों का बहुत्व है आत्माएं जो है वो अनेक है क्योंकि इसमें कुछ लोग एक ही आत्मा को मानते हैं कहा कि नहीं एक नहीं है अनेक है पुरुष बहुत्व है कारण क्या व्यवस्था के देखे जाने से व्यवस्था क्या कोई सुखी है कोई दुखी है ज्ञानी है कोई अज्ञानी है कोई प्रसन्न है कोई अवसाद में यदि एक ही आत्मा होती तो सब या तो सुखी होते या सब दुखी होते क्योंकि चेतन तो एक ही होता उस स्थिति में एक ही चेतन होता तो सब जो हमारे को ये जो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं उसमें अनुभव करने वाला तो एक ही होता है और एक ही होता तो ये भिन्नताएं नहीं होती वो सब मिलाकर के कुछ एक स्थिति होती लेकिन हमें पता लगता है कि भिन्न भिन्न अनुभूति होती है हर व्यक्ति की अलग अलग अनुभूति है अलग अलग ज्ञान का स्तर है अलग अलग विचार है शुद्ध तो का अलग अलग है इस व्यवस्था से पुरुष का बहुत कुछ सिद्ध होता है ये बात सिद्धांत की ने रखी इसके ऊपर यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे नहीं पुरुष तो एक ही है चेतन तो एक ही है मात्र उपाधि का भेद है उपाधि के भेद से ये व्यवस्था दिखाई दे रही है कोई सुखी और कोई दुखी उपाधि कौन हो गए ये शरीर हो गए शरीर अंतकरण ये उपाधि कहलाएंगे आत्मा तो एक ही है पूर्व पक्षी इस ढंग से बात करते आत्मा तो एक ही है आपका कहना था सिद्धांति को कह रहा है आपका कहना था कि यदि आत्मा एक ही हो तो व्यवस्था नहीं हो सकती बोले तो नहीं आत्मा के एक होते हुए भी सुख दुख आदि की व्यवस्था हो सकती है कैसे हो सकती है उपाधि का भेद था भले ही आत्मा एक है लेकिन इस शरीर में जो आत्मा है आत्मा का जो भाग है वो शरीर के हिसाब से अलग अलग सुख दुख अनुभव कर रहे हैं अलग अलग विचार कर रहे हैं दूसरे शरीर में उपाधि शरीर का भेद है अंतकरण का भेद है वहां पर है तो वही आत्मा लेकिन चूंकि उपाधि का भेद है इसलिए अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ऐसा यदि कोई कहे तो उपाधि चेत यदि ये उपाधि है तो बोले तब सिद्ध हो उसके सिद्ध होने पर भी यदि मान भी लिया जाए कि उपाधि के कारण से ये भेद है आत्मा का भेद नहीं है तो भी अभ्युगम से कथन कर रहे मान भी न तो मान नहीं रहा है ये कह रहे मान भी न तो सत्सितो पुनर्द्वैतम उसमें द्वैत तो फिर भी आ जाएगा आप तो अद्वैत को मानने वाले हो जो एक पुरुष को मानने वाला है उनका ये मानना है कि मात्र पुरुष ही है और कुछ नहीं है और कुछ है ही नहीं एक ही तत्व है बस तो जब आप उपाधि को मानोगे कि एक आत्मा तो सब जगह है लेकिन शरीर के भेद से व्यवस्था का भेद दिखाई दे रहा है उपाधि के भेद से व्यवस्था का भेद दिखाई दे रहा है तो ये उपाधि तो दूसरी चीज हो गई ना चेतन से द्वैत आ गया तो आप तो ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि आप तो अद्वैत को मानते आपका खुद का पक्ष खंडित हो जाएगा अगर आप उपाधि को मानते हो आप अपने मंतव्य से विपरीत बोल रहे हो तो कोई व्यक्ति पहले कुछ कहे और अपने ही मंतव्य के सिद्धांत के विपरीत बोले तो ये निग्रह स्थान है हार का पराजय का कारण ऐसा नहीं हो सकता हम जो भी बोल रहे हैं हमारे बाद वाले बोले में और पहले वाले बोले में संगति होनी चाहिए परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए तभी आपकी बात मानी जा सकती पहले कुछ बोल दिया और यहां दोष आया तो कुछ और बोल दिया तो इसका मतलब है आपका सिद्धांत गड़बड़ है तो उपाधिश्चेत यदि उपाधि को मान भी लो आप मैं नहीं मान रहा हूं कि उपाधि के कारण भेद है ये तो आत्मा के कारण से चेतन के कारण से भेद है यदि उपाधि का भेद माने भी रहे तो उसके सिद्ध होने पर तो द्वैत आ जाएगा अद्वैत ही रहेगा आपके थोड़ा सा द्वैत तो आगे समझ में लेकिन जैसे उपाधि अर्थात शरीर पे शरीर कह दीजिए अंत्यकरण कह हाँ, दोनों मिलाकर के कथन कर सकते हैं यहाँ उपाधि का जो जन्म मरण बंद मोक्ष आदि व्यवस्था का नियामक अर्थात इससे ईश्वर का बहुत ऐसा लग रहा है नियामक नहीं नियामक ईश्वर की दृष्टि से नहीं है या कारण कि एक का जन्म हो रहा है एक का मरण हो रहा है एक बद्ध है एक मुक्त है एक स्वस्थ है एक रुग्ण है ये जो भिन्नता है सुख दुख की विचारों की इसका हेल्प करने का कारक क्या है कारण क्या है और नियामक मतलब परमात्मा नहीं है शरीर उपाधि का भेद उपाधि के भेद से ये सब भेद होते हैं ऐसी रूप तो तो क्या वो शरीर को भी ब्रह्म ही मान रहे हैं कि ये जो शरीर है वो ब्रह्म ही है अभी नहीं मान रहे शरीर को ब्रह्म शरीर को तो उपाधि मान रहे हैं चेतन से भिन्न इसीलिए द्वैत आ रहा है सामान्य सिद्धांत में तो वो अद्वैत जब ये प्रतिज्ञा की कि ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं इसका मतलब प्रकृति में पेड़ पौधे वनस्पतियां और ये शरीर भी सब कुछ जो एक सारा कार्य जगत है ये ब्रह्म का ही रूप है और कुछ नहीं है एक ही तत्व है उनका मूल सिद्धांत है एक ही तत्व है ठीक है अब जब उपाधि को स्वीकार कर रहे हैं तो ये ब्रह्म से भिन्न होगा या वो ही होगा ब्रह्म ही होगा तब तो अलग होगा अलग होगा अलग होते ही तो आपके सिद्धांत के विपरीत जा रहे अद्वैत नहीं कहा तो द्वैत हो गया तो अपने सिद्धांत में वो इस शरीर को भी चेतन ही मानते हैं वैसे मानते हैं लेकिन अभी तो भिन्न मान रहे हैं एक तो मान ही नहीं सकते यदि वो एक मानेंगे तो उपाधि के भेद से व्यवस्था ही कथन नहीं बनेगा फिर तो वो सिद्धांत ही ये कह देगा कि अगर ये शरीर भी आत्मा ही यानी ब्रह्म ही है तो फिर तो सब कुछ एक ही हुआ ना केवल एक ही हुआ ना और एक ही हुआ तो व्यवस्था का भेद नहीं व्यवस्था नहीं होनी चाहिए एक मर रहा है एक जन्म रहा है ये नहीं कारण बन एक सुखी एक दुखी ये नहीं हो सकता तो उस दोष से बचने के लिए उसने ये मान लिया कि भाई उपाधि है तो मान लिया तो गलत मान लिया उसके सिद्धांत के विपरीत चल रहे समाधान तो कर रहा है लेकिन इससे उसका अपना कथन खंडित हो रहा है इसलिए ये कथन भी आपका ठीक नहीं है यदि प्रकृति का क्षेत्र पहले हो चुका था फिर बार बार वही मौजूदा आ जाती है कभी वही आ गया कभी ज्ञान कभी वही आ गया उनको बार बार लेके आते हैं एक प्रसंग पहले हो चुका फिर उनको लेके आते हैं ये बाद के जुड़े होते हैं कई प्रश्न हाँ कुछ लोग ऐसा मानते हैं कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सांख्य बस तीन अध्याय में ही पूरा हो गया बाद के बाद में जोड़ेगा ऐसा कुछ कुछ लोग चौथे अध्याय तक मानते हैं ऐसा कहते हैं लोग तो इस छठे अध्याय में उपसंहार के रूप में होता है जैसे प्रवचन देते हैं तो बाद में वही वही वाक्य नहीं आ जाते हम एक वाक्य बोल दिया उसको दोबारा नहीं बोलते हैं प्रवचन में दोबारा भी बोलते हैं दूसरे ढंग से बोल देते हैं आवृत्ति करते हैं आते तो कुछ कुछ तो भिन्नता है लेकिन साथ साथ में कुछ पिछली कुछ नई बात भी आ जाती है कुछ पिछली बात भी आ जाती है जो इनकी मुख्यता है उसको बार बार बोल लेते हैं ऐसा भी तरीका हो सकता था कि बस एक बार जिसको बोल दिया उसके बारे में दोबारा नहीं कहते ये भी हो सकता था लेकिन ये भी शैली होती है वो भी शैली होती है तो ये बार बार ज्यादा नहीं आएगा बस समाप्त हो जाएगा वैसे इन्होंने कहा आवृत्ति असकृत उपदेशा तो उस प्रकरण को पहले पूरा कर दिया जाए जिन्होंने बाद में कुछ क्या हो कर सकते थे पर एक बार पहले कर देते ना एक बार लीप देते हैं जैसे फिर अंत में उसकी फिनिशिंग के लिए फिर से एक बार लीप तो पहली बार ही कर लेते थे सारा का सारा वो एक बार करते हैं फिर दूसरी बार करते हैं सबका थोड़ा सा अंतिम है जो जो मुख्य मुख्य है वो शहरी है स्वामी जी इसमें तो लेखक की स्वतंत्रता है इसलिए ऐसा बनाया ठीक है हमारे में से कोई बनाएगा दर्शन तो दूसरे ढंग से बोल देगा ठीक है तो आगे चलते हैं छियालीसवें तक हुआ था कि उपाधि यदि मानी जाए तो द्वैत आ जाएगा अब सैतालीसवें सूत्र में और दोष दिखा रहे हैं कि अगर आप दो को मान भी देते हो दो को मान भी देते हो तो भी ठीक नहीं है क्योंकि सिद्धांति तो दो को भी नहीं मानता तो तीन को मानता दो ही नहीं कि उपाधि है और बस चेतन है ऐसा नहीं उसके अतिरिक्त भी है सूत्र बोलिए सैतालीसवा द्वाभ्याम अभी प्रमाण विरोध इन दोनों से भी दोनों तक दो जो आप मान रहे हैं उससे भी प्रमाण का विरोध आता है कि आपने एक चेतन मान लिया और एक उपाधि मान लिए दो मान लिए तो शब्द प्रमाण से विरोध है शब्द प्रमाण तो चेतन की बहुत को बता रहे हैं ये जो पुनर्द्वैतम कहा ये सिद्धांत पक्ष नहीं है ये तो उसको दोष दिखाया है कि दो हो जाएंगे और आप दो भी मान लो जब तो ये दो भी नहीं मान सकते हो आप पुरुष तो बहुत ही मानना पड़ेगा दो नहीं मान सकते हो दो मानोगे तो शब्द प्रमाण से विरोध आ जाएगा ये तत्विदु अमृतास्ते भवंती अथे तरे वापी अंती इनमें से कुछ हैं जो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं कुछ हैं जो दुख को ही प्राप्त करते रहते हैं ये जो अनेकों का कथन आ रहा है बहुतों का कथन आ रहा है तो अगर आप दो मानते हो तो दो में एक तो उपाधि होगी और एक चेतन होगा तो चेतन तो एक ही रहा ना फिर भी द्वैत में उपाधि हो गई और चेतन तो फिर भी एक ही रहा चेतन बहुत को तो नहीं हुआ तो बोले द्वैत मानने पर भी जो पक्ष बन रहा है चेतन के एकत्व का वो प्रमाण के अनुकूल नहीं है द्वैत भी नहीं है वास्तव में कि एक ही चेतन है चेतन का तो बहुत फिर भी है ठीक है की प्रमाण विरोधा अगला सूत्र अड़तालीसवा अगर कोई कहने लगे कि नहीं द्वाप तो की इस दो का तो विरोध नहीं है दो का तो कथन ठीक ही है कहा था असंगो ही अयम पुरुष पुरुष तो एक ही है पीछे आया था असंगो ही अयम पुरुष एक वचन था ना उसमें क्या उत्तर दिया था वहां पर जाति परत्व है जाति परत एक वचन का प्रयोग है तो फिर भी वो कह रहा है कि नहीं एक ही है तो सूत्र बोलिए अगला स्वाभ्याम अभी अविरोधा न पूर्वम उत्तरंच साधका भाव बोले अगर आप कहते हो कि इन प्रमाणों से द्वाभ्याम अभी अविरोधा दोनों का ही विरोध नहीं होता यानी अद्वैत का भी नहीं होता और द्वैत का भी विरोध नहीं होता आपने जो तर्क दिए हैं पीछे उससे विरोध नहीं होता है खंडन नहीं होता है हमारा अगर आप ऐसा कहो तो अभ्याम अपनी अविरोधात अगर अविरोध होता है तो बोले न पूर्वम उत्तर तो आपका पहला सिद्धांत अद्वैत का और उत्तरंच दूसरा अद्वैत का ये भी सिद्ध नहीं होते क्यों साधक अभाव आपके पक्ष की सिद्धि में भी कोई प्रमाण ही नहीं सिद्धांति ने खंडन किया था तो पक्षी कहे कि नहीं इसका तो खंडन नहीं हो रहा है बोले अच्छा चलो खंडन नहीं हो रहा है तो आपकी पुष्टि में कोई प्रमाण हो वो दे दो तो कि एक ही तत्व है और कुछ नहीं है या दो द्वैत है और चेतन पुरुष एक ही है और बाकी उपाधि है इसमें कोई प्रमाण हो तो आपके पक्ष में कोई प्रमाण ही नहीं साधक का अभाव होने से इसलिए आपका मत मान्य नहीं है पूर्व पक्षी कहे कि आपका खंडन ठीक नहीं है सिद्धांतिक तो बोले चलो मेरा खंडन ठीक नहीं है लेकिन आप अपने पक्ष की पुष्टि के लिए प्रमाण तो दीजिए कोई तो पूर्वम उत्तरंच पहले वाला और दूसरा वाला अद्वैत और द्वैत उन दोनों में ही साधक का अभाव है प्रमाणों का अभाव है इसलिए आपकी बात मान्य नहीं है तो उपाधि वाली बात तो बनी नहीं अब पूर्व पक्षी अगर ये कहे कि नहीं पुरुष तो वास्तव में एक ही है लेकिन फिर भी बिना उपाधि के भी वो अनेक तरह से प्रकाशित हो रहा है अनेक रूप में दिखाई दे रहा है है तो एक ही चेतन एक ही चेतन लेकिन अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है बोले जैसे सूर्य एक है और नीचे यहां पानी है वहां पानी है वहां पानी है या बहुत सारे दर्पण है सब में सूर्य दिखाई देता है है सूर्य एक ही लेकिन कितने दिखाई देते हैं सूर्य बहुत दिखाई देते हैं एक होते हुए भी अनेक दिख सकते हैं ऐसे ही चेतन तो एक ही है लेकिन ये अलग अलग चेतन दिखाई दे रहे हैं अलग अलग प्रकाशित हो रहे हैं उपाधि नहीं चेतन ही अलग अलग ढंग से दिखाई दे रहा है ऐसा यदि कोई कहे तो, तो उसका समाधान नहीं कर रहे हैं उनचासवां सूत्र बोलिए प्रकाशत तत्सिद्ध कर्म कर्त विरोध प्रकाश से यानी प्रकाश के होने से इसकी सिद्धि हो पुरुष के बहुत्व की वास्तव में पुरुष बहुत्व नहीं है है तो एक ही लेकिन उसी के बिंब प्रतिबिंब से वो बहुत सारा दिखाई दे रहा है ऐसा यदि कोई कहे तो प्रकाश की तरह से बोले कर्म कर्तृ विरोध है कर्म और कर्ता दोनों का विरोध आ जाएगा क्योंकि कर्म और कर्ता एक नहीं होते अलग अलग ही होते हैं कर्ता मतलब वो प्रकाश वाला अब वो प्रकाशित हो रहा है तो कहां प्रकाशित हो रहा है किसको प्रकाशित कर रहा है वो दूसरी चीज है कोई अगर माने कि सूर्य एक है तो अलग अलग जगह जहां दिखाई दे रहा है जिस जिसको प्रकाशित कर रहा है वो तो अलग अलग है ना ये तो ना कह सकते हैं कि एक ही सूर्य है यहां जो भिन्न भिन्न रूपों में दिख रहा है वो भी और ये भी एक ही है तो वो एक सूर्य अलग अलग जगह प्रकाशित भी हो रहा है तो वो चीजें तो अलग अलग है ना वो तो खुद ही खुद को प्रकाशित करे ऐसा कभी भी नहीं होता है चेतन ही अपने आप को विविध रूपों में प्रकाशित कर रहा है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तो प्रकाशित करने वाला भी वही हुआ और प्रकाशित होने वाला भी वही हुआ कर्म और कर्ता का विरोध आ जाएगा कर्म और कर्ता एक नहीं हो सकते अलग अलग होंगे कर्मकर्ती का विरोध आएगा कर्म अलग होता है कर्ता अलग होता है इसलिए आप ये कहो कि एक ही आत्मा अपने को विविध रूपों में प्रकाशित कर रहा है और वो अनेक बहुत को दिखाई दे रहा है वास्तव में एक ही है तो ये भी ठीक नहीं हो सकता और इसी बात में आगे कहते हैं बोलिए जड़ व्यावृत्तो जड़म प्रकाशयती चित रूपा बोले ये प्रकाशित तो करता है लेकिन वैसे नहीं बोले जड़ व्यावृत्ता जड़ से भिन्न होता हुआ ये जो चेतन अलग अलग जगह प्रकाशित कर रहा है वो जड़ से अलग होता हुआ जड़ व्यावृत को जड़म प्रकाशित जड़ वस्तु को प्रकाशित करता है कैसे चित चित्रूप जो ये चेतन स्वरूप जो आत्मा है ये जड़ से अलग होता हुआ जड़ को प्रकाशित करता है जैसे शरीर के अंदर ये चेतन आत्मा है ये चेतन आत्मा इस जड़ शरीर से अलग होते हुए भी इसको प्रकाशित कर रहा है इसमें चेतनता हमें प्रतीत होती है शरीर में गतिविधियां हो रही है चेतनवत प्रतीत हो रहे हैं तो जो प्रकाशित करने वाली आत्मा है वो जड़ से भिन्न है यानी जड़ अलग तत्व है और वो चेतन अलग तत्व है और वो चेतन चिद रूप जो है चेतन स्वरूप है वो इस जड़ को प्रकाशित करता है प्रकट में लाता है बनाता भी है और इसका कार्य भी लेता है ये अलग अलग चेतन है इसलिए पुरुष बहुत तो फिर भी सिद्ध होगा पीछे सूत्र में उनचासवीं में कहा था प्रकाशित सिद्ध ये ये दूसरे को प्रकाशित करता है वैसा प्रकाश नहीं जैसा अग्नि का प्रकाश होता है ऐसा नहीं प्रकट करता है ज्ञान के रूप में प्रकट करता है तो कोई कहे कि नहीं वो चेतन तो ऐसा ही प्रकाश वाला होता है जैसा ही जड़ वाला होता है जड़ से भिन्न नहीं है वो ये जो चेतन है ये जड़ से भिन्न नहीं है ये जड़ की तरह ही है कैसे वेदा मेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम समसन परस्ता मैं उस चेतन पुरुष को जानता हूं जो आदित्य के समान है तो जड़ से भिन्न कहा हुआ आदित्य तो जड़ है तो जड़ के समान ही वो चेतन भी हुआ जैसे जड़ प्रकाशित होता है तो वो भी प्रकाशित होता है इसलिए आप भिन्न क्यों कह रहे हो ये जड़ से परमात्मा भी प्रकाश वाला है तो इसका उत्तर आगे दिया जा रहा है इक्यावनवा सूत्र बोलिए नाम श्रुति विरोधो राग नाम वैराग्याय तत्सिद्धे न श्रुति विरोध इससे श्रुति का कोई विरोध नहीं होता हमारी इस मान्यता का श्रुति से विरोध नहीं है हमने कहा है कि ये जो चेतन है ये जड़ से भिन्न है ये जड़ के समान रूपवान नहीं है इस बात का श्रुति से शास्त्र से विरोध नहीं है न श्रुति विरोध बोले फिर शास्त्रों में ऐसा क्यों कहा गया उपनिषद में भी आता है ये जो सूर्य है यही ब्रह्म है ये जो सूर्य को प्रकाशित कर रहा है यही ब्रह्म है जो चंद्र का है यही ब्रह्म है यही वो तत्व है इस तरह के जो कथन आते हैं ऐसे कथन क्यों आ जाते हैं उसका उत्तर दे रहे हैं रागी है तत्व थे जो रागी लोग हैं जो भी संसार में आसक्त हैं जो निराकार चेतन तत्व को समझ नहीं सकते उन लोगों के लिए उनको भी वैराग्य हो इस संसार से उसकी सिद्धि के लिए ये इस तरह के कथन कर दिए जाते हैं वास्तव में वो ब्रह्म का स्वरूप नहीं है हाँ, ब्रह्म उसमें विद्यमान है ये ठीक है और उसको ब्रह्म परमात्मा समझ में नहीं आ रहा है कि वो महान तत्व है क्या इस सृष्टि को बनाने वाला ये सब कुछ समझ में नहीं आता है उसको तो केवल ये सूर्य दिखाई देता है जिसके कारण से हमारे को प्रकाश मिलता है हम इतने बड़ा अद्भुत लगता है ऊपर कहता है कि ये पृथ्वी नहीं ये कुछ नहीं है वो है ब्रह्म ऐसे लोगों के लिए जो राग से ग्रस्त हैं जो जानते नहीं है उनके लिए है कि भाई ठीक है इस सूर्य को ही ब्रह्म मान करके उपासना कर लो तो उन लोगों के लिए कथन है ये तत्वतः कथन नहीं है और वहां कहा भी जाता है साथ में भी बता देते हैं कि ये जो जिससे प्रकाशित हो रहा है कि सूर्य जिससे प्रकाशित हो रहा है इस सूर्य को भी जो प्रकाशित कर रहा है वो वो ब्रह्म है वो भी बता देते हैं लेकिन तो ये भी कह देते हैं ये जो सूर्य है यही ब्रह्म है तो ये तत्वतः कथन नहीं है जो रागी लोग हैं उनके वैराग्य के लिए कि संसार से थोड़ा हटें इससे भी बढ़कर के कोई दूसरी चीज है यही सब कुछ नहीं है जो यहां संसार में दिखाई दे रहा है इसी में नहीं रचे बसे रहे हैं कुछ और भी है इससे भिन्न जहां ध्यान केंद्रित करना है केवल उनको यहां से हटाने के लिए ये किया गया वास्तव में कुछ नहीं तो न श्रुति विरोध हो मैंने हमारे कथन का श्रुति से विरोध नहीं है श्रुति के जो ऐसे वचन मिलते हैं वो तो राज्यों के वैराग्य की सिद्धि के लिए और जो आदित्य वर्णम है वो सूर्य के समान प्रकाशित है वर्ण का मतलब ये नहीं कि जैसे सूर्य लाल पीला होता है ऐसा वो परमात्मा ऐसा अर्थ विरोध विरोधो रागिनाम नाम क्या है अब जो अद्वैत को मानते हैं एक ब्रह्म को मानते हैं और वो इस संसार को क्या कहते हैं जगत मिथ्या सांख्य दर्शन का तो कुछ और ही कहते हैं देखिए राम करोगे जगत सत्यत्व अदुष्ट कारण जन्यत्व बाधक अभाव जगत सत्यत्व जगत का सत्यत्व है सत्य है जगत मिथ्या नहीं है जगत मिथ्या नहीं है जगत सत्य है वास्तविक सत्ता है उस समय भी सांख्य काल में भी लोग मानते होंगे ये तो सब भ्रांति है जगत है शून्य है बदलाव होता रहता है विज्ञानवाद है जो भी कुछ मानते हो ये तो भ्रांति है केवल दो क्षण का है मिट जाएगा स्थिर रहेगा नहीं इस तरह जो मिथ्यात्व का कथन होता है जो भी है जगत सत्य है जैसा भी है ये सत्य है वास्तविक है कोई भ्रांति नहीं है इसमें क्यों नहीं है भ्रांति जगत सत्यत्व अदुष्ट कारण जन्यत्व कारण कहते हैं प्रमाण को अदुष्ट यानी जो खराब नहीं है यानी ठीक ठीक प्रमाणों से ठीक ठीक इंद्रियों से जन्य होने से ज्ञात होने से जिनकी इंद्रियां खराब हैं उनको ये कोई कहे कि आपको ये सत्य दिखाई दे रहा है तो आपकी तो इंद्रिय खराब है ज्ञान इंद्रिया खराब है इसलिए आपको ये सत्य दिखाई दे रहा है बोले इंद्रिया हमारी खराब नहीं है इंद्रिया बिल्कुल ठीक है और अदुष्ट कारण जन्य है ये बिल्कुल ठीक इंद्रियों के द्वारा हमारे ये जाना जा रहा है कि ये है इसलिए जगत का सत्यत्व और बाधक अभाव ये जगत सत्य है इसकी बाधा करने वाले इसका खंडन करने वाले किसी प्रमाण का अभाव है कोई बाधक यानी खंडन करने वाला जो कोई प्रमाण है कोई है ही नहीं जो इसको असत्य सिद्ध कर दे हमने इसको सत्य जाना है क्योंकि अदुष्ट इंद्रिय जन्य है ये ठीक ठीक इंद्रिया है और पता लग रहा है कि इसका अस्तित्व है इसलिए है ये और ये जो सत्यता है इस संसार की इसको खंडन करने वाली कोई बात है नहीं इसका खंडक आधार कोई आधार नहीं है जो इसको खंडित कर दे इसके अस्तित्व को खंडित कर दे इसमें कोई प्रमाण नहीं हमने प्रमाण से सिद्ध किया इंद्रियों से और इसका खंडन कोई कर नहीं पा रहा है जो तो इसको असत्य कहते हैं वो खंडन करके बताएं कि मिथ्या है कैसे सिद्ध करेंगे कि मिथ्या है सत्य नहीं है कैसे सिद्ध करेंगे इसमें कोई बाधक का बाधक नहीं है बाधक का अभाव है इसलिए जगत सत्यत्व जगत का तो सत्यत्व है वो विद्यमान है हो गया अब अगला देखिए चतुर्भुजी बंद करके रख दीजिए केवल कॉल को रोकना नहीं है नहीं उसको स्विच ऑफ कर दीजिए ये तो कॉल को रोका है आपने जरूर